मेरा पैर पकड़ के खींच रहा है या ग्राह ही होगा तो ग्राह बन गए तो उसने मैंने किया अच्छा उनके इसी प्रकार तू जब हाथी गजेंद्र का पैर पकड़ेगा तो भगवान के द्वारा तेरा उत्थान होगा सशब्दों मुक्ता वो ग्राह की योनि छोड़ करके भगवान को प्रणाम करके स्तुति करके चला गया हम लोकम अगा तो पहले ग्राह को मुक्त किया भगवान ने तो लोग बोलो ग्राह को पहले क्यों मुक्त किया उनकी इसने हमारे भक्त का पैर पकड़ा है उसे पहले मुक्त हमारी जिसने स्तुति की है सब पीछे देखेंगे हाँ। एक महात्मा कह रहे हैं पाप पकड़ो मुक्ति मिली पाप पकड़ने से मुक्ति मिल गई तो, तो इसमें इसलिए पाप करो पाप करो मुक्ति मिली पाप करो मुक्ति मिली पाप करो सबको वैसे समझ में नहीं आती कहते हैं उसका अर्थ है पाप करो गजेंद्र का भक्त का पैर पकड़ा तो मुक्ति मिली तो पाप करो सबको तो सब भक्तों के शरण में जाओ भक्तों की सेवा करो उनको भी मुक्ति मिल जाएगी तो मत दिया और गजेंद्र जो था वो भी भगवान का स्पर्श पा करके भगवान के पास उनका रूप हो गया उसको ये भी धर्म देश में एक तो पांडवंश के राजा थे ये एक दिन बैठे हुए भगवान का जो है पूजन कर रहे थे मलयाचर पर्वत पर मौन होकर के वहां अगस्त जी पहुंच गए तो ये अपने मौन होकर के भगवान का पूजन कर रहे थे तो अगस्त जी को उठकर के प्रणाम तब अगस्त ने देखा अच्छा इतना पुजारी बन गया है क्या हमारे और उसके भी तो नहीं तम अकृताधारागम तूषणी स्थितम चुपचाप बैठा है और जो है हमको देख करके न उठा न इसने प्रणाम किया अगर शरीर में तो को क्रोध है आह अयम विप्राण हरे की ब्राह्मण का अपमान कर लिया हाथी की तरह बैठा था हाँ तो बजेर हो हाथी तो उसने राजा ने कहा मेरा मेरा अपराध तो कुछ था नहीं मैंने प्रणाम नहीं किया फिर चलो मेरी गई प्राप्त है भगवान की ऐसी इच्छा है आत्मस्मृत विनाश में कौन जरूरी होने वाले तो हाथी की योनि में आए पर भगवान की पूजा अर्चना के प्रभाव से उनको पहले जन्म की स्मृति बनी थी इसके अंदर भगवान इस जमीन को मुक्त करके गर्भ पर बैठ करके अपने लोग को चले गए भगवान ने तो गजेंद्र से कहा अरे जो तेरे तेरा और मेरा जो स्मरण करेंगे कहने जिस स्तुति से मेरी स्तुति की है उस स्तुति को अगर रोज व्यक्ति पाठ करे प्रातः काल तो मरते समय हमको निर्मल बुद्धि निर्मल ज्ञान देंगे त्वत्कृत स्त्रोत्र माम स्तुवंती तेषाम प्राण के तुमने जिस स्त्रोत्र से मेरी स्तुति की है अगर कोई प्राणी प्रातकाल उसी स्तुति से मेरी स्तुति करेगा तो मरने के समय बिमला मतिम बदामी तो फिर हम बुद्धि योग है बदाम बुद्धि योगम तम बहुत से लोग गजेंद्र रोज का पाठ करते हैं तो इसकी तो का फलश्रुति ये है तो मरने के समय भगवान याद आए और परीक्षित बोले महाराज हमने सुना है श्री सागर का मंथन हुआ था भगवान ने क्यों उसका मंथन किया क्या सिद्ध सूर्य जी बोले राजन बात ये थी कि ये देवता और दैत्य हमेशा लड़ते रहे इनका सदा झगड़ा बना रहे तो युद्ध में जब देवता मारे जाते थे तो ये तो जीवित होते नहीं थे और जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्राचार्य जीवित कर लेते उनके पास मृत संगीत में विद्या थी और एक बार दुर्गाजा दुर्गाशा जी के साप थे वैसे भी देवता निस्तेज हो रहे दुर्गाजा जी ने क्यों साथ दिया उसका कारण ये था तो एक बार जी आ रहे थे उनके हाथ में माला थी इंद्र आ रहा था सामने से तो उन्होंने बड़े प्रेम से इंद्र को माला दी लो इंद्र ने माला लेकर के हाथी के मस्तक पर डाली हाथी ने सूर से लेकर के बेचारा थी हाथी क्या समझे क्या माला अब तो दुर्भाषा जी ने कह रहे मूर्ख हम तब किसी को माला देते हैं प्रसन्न होकर के तेरे को हमने तो माला दी तो फिर उसको चाहिए था कि पहले मस्तक पर धारण करे और फिर अपने आप पहनता उसे पहले तो उसकी हाथी के मस्तक पर डाल दी पूजा और क्षीर सागर पर जाकर के भगवान की स्थिति देवता जो क्षीर सागर पर पहुंचे और फिर वहां जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे यमे करणम तपसत्वरम तदलोक मुक्त मनन तपारम आसान चकारोप सुवर्णेनो मुपासते योगरथेन धीरा नयस्य कश्चित् कश्चात् कृतर्तुनायाम् जलाजनो मुह्यत वेदनार्थम देवतालों कहते हैं भगवान आपकी माया ऐसे विलक्षण है इस आपकी माया का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता इसने सारे संसार को मोहित कर रखा एक तो सदा अनुभूति रहती है सारा संसार जर्जर हो जाता है बूढ़ा हो जाता है पर भगवान की माया कभी बूढ़ी नहीं होती सदा अनुभूति बनी रहती चतुर्थ का प्रकार युवती और सुपेशा कुशला चतुर्थ बहुत बड़ी भारी चतुर बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने चमोल में ले लेती है तो उससे ज्यादा बुद्धिमान और ही नहीं बहुत चतुर है तो युवती और सुपेशा और घृतक का आरंभ में बड़ी अच्छी लगती है उसका माया का कार्य आरंभ में बहुत अच्छा लगता है पीछे लिंगस्ता आती है पुष्प लिया बहुत अच्छा लग रहा है बस थोड़ी देर में पूरा सड़क के फिर दिया माया की प्रत्येक वस्तु आरंभ में अच्छी लगती है तो धीरे धीरे वो नीरस हो जाती है घृतक प्रति का आरंभ उसका बहुत अच्छा है परिणाम वस्ते और ज्ञान को घटती है ये चार उसके स्वभाव है माया तो महाराज आपकी माया को कौन का है चंद्रमा आपका मन है सूर्य चक्षु है आपके प्रसाद से देवता क्रोध से रुद्र बुद्धि से ब्रह्मा आपके मुख से ब्राह्मण प्रकट होते हैं एवं भूतस्तम प्रसन्ना नाम न सस्मितम मुखामुजम दर्शन आप प्रसन्न रदन होकर के आप उनको दर्शन दीजिए दर्शयात्मा दर्शयात्मस्मत् कर्णगोचरम प्रपन्ना विदृक्षिणाम सस्मितम तो मुखाम देवताओं ने प्रार्थना की शुभदेव जी कहते हैं कि सुरगणेश तो भगवान सहस्रार्थ द्वितीय रात्र सहस्रों सूर्य के समान जिनका तेज है अद्भुत रूप में भगवान देवताओं के सामने प्रकट हुए देवता भगवान को अपनी दृष्टि से नहीं देख सके और भगवान जो प्रकट हुए हैं मरकत मणि के समान उनका सांवला सांवला शरीर है सिर पर मकर कानों में सुंदर और उनको जब प्रकट हुए भगवान की फिर स्तुति करने लगी तम ताम वयनाथ समुज्जिहामी सरोजनावाचितार्थम दृष्टावता सर्वे महाराज आज आपका दर्शन करके हम कृतकृत हो गए जैसे तप्त संतप्त हार गर जैसे गंगा में घुस करके जैसे शांति का लाभ करता है ऐसे आज का आपका दर्शन करके हम आनंद में मग्न होते हैं भगवान बोले अरे ओ ब्रह्मण ब्रह्मी देखो पहले अब तुम जा करके उन दैत्यों के साथ मित्रता कर लो हमेशा लड़ाई लड़ाई ठीक नहीं होता और तुम लोग उनके साथ जाकर के मैत्री कर और जब तुम्हारा काम बन जाए फिर पश्चात अहिंसकवत वक्तव्य फिर सर्प ने मुंशी के साथ जैसा वर्ताव किया था वैसा करना सर्प ने कैसा विवाद किया था मुंशी के साथ भवनाथ से करंड पीड़ित तनोर पेट किसी सफेदे में ला करके सांप को अपने करंडी में पिटारी में रख दिए और सांप का शरीर होता है कोमल पिटारी कड़ी थी उसे चुगए सर को तो कई दिन हो गए खाना पीना कुछ नहीं मिला पेट चुंगा कुदुक कुदुक करके ये घर घर से वो पिटारी में पहुंच तो उसके बीच में कुछ रखा होगा खाने और वहां जाकर कुट कुट करके पिटारी को काटने लगा तो जब पिटारी में छेद कर लिया तब उसने देखा है उसमें तो सांप बैठा तो छेद थोड़ा ही हुआ पूरा नहीं काटता है सर्प ने कहा मित्र हम मेरे यहां दुखी हो रहे हैं तो तुमने इतनी कृपा की है थोड़ा इसको छेद थोड़ा बड़ा कर दो हम यहां से निकलते जाए बोला हमारी तुम तुम्हारी कौशल मित्रता तुम तुम्हारे तो जन्म से शत्रु अरे भाई हो तो वो बात छोड़ दो और तुमने इस समय तो हमारे साथ भलाई करी है तो चूहे ने उसकी बातों में आकर के उस दिन उसको पूरा काट दिया जिसमें से सर्प निकल सकता है तो सर्प देवता उसमें से निकले भूखे तो थे जरा उसको मुंह में रख करके तो इसलिए पश्चात अहिंदू सकलत वर्ष कर दो पहले तो उनसे मेल कर लो देखते उसे तो देखो वह दोनों आपस में दैत्य देवता मिलकर के समुद्र मंथन के लिए प्रयत्न करो सिंह सागर सागर में ये लता औषधियां ये सब ला करके डालो समुद्र में और चल कर रखी रई बना करके उसका बस मंथन करो दोनों मिला भगवान ने जब ये कहा तो देवता लोग इंद्रा के देवता बलि के पास हो बने में एम देखा देवता हमारे यहां कैसे आ रहे दैत लोग जो है अपने हाथ से लेकर के तैयार हुए लड़ने के लिए बलि ने कहा कि इस समय ये युद्ध करने के लिए नहीं आए आकर के जो भगवान ने कहा था वो उन्होंने प्रस्ताव दैत्यों के सामने रखा कि जो भाई हम आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं और ये लड़ाई झगड़ा छोड़ करके हम आपस में मिल करके और भगवान ने उपाय बताया है कि समुद्र क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत प्राप्त होगा तो हम लोग अमृत पान करके सदा के लिए अमर हो जाएंगे मरने का भय नहीं है ये ये बात व्यक्तियों को भी बड़ी अच्छी है फिर का वो मंगलाचल पर्वत को उखाड़ने के लिए चले मंगल गृह उत्पाद से उदगी नन्नी मिली मंगला पर्वत पर्व को उखाड़ करके क्षीर सागर की ओर लेकर के चले पर इतना उसमें वजन था कि उनके हाथ से छूट गया हारे देवासुरान नया माथो वह उसके नीचे जो देवता और देवते आ गए उनका तो वो तो चकना चूर हो गया चले अमरता की प्राप्ति के लिए और पिच गए उसके लिए और उनका साथ भी होता तो हम इसे क्षीर सागर तक ले जा सकते हैं भगवान ने भी कहा कदम ये हतोत्साह है तो स्वयं भगवान उस नंदराचल पर्वत को गरु की पीठ पर रख करके और वहां क्षीर सागर पर आकर के रखिए गरु गिरिम स्पंधा तो तार्य जले क्षिप्ता हरिणा विसर्जित हो वैकुंठम जगा बस गरु जी उस पर्वत को वहां उतार करके और भगवान से आज्ञा लेकर के गरुड़ जी तो वैकुंठ को चले गए और भगवान ने कहा कि अच्छा, जाओ देखो वासुकी नाथ के पास जाओ जैसे रही है इसमें रस्सी लपेटी जाती है ना तो चलती है और ये मंदराचल पर्वत में इतनी तेजी से बड़ी रस्सी लाओगे कहते हैं नाथ को लाओ उसे इसमें लपेट करके एक, एक बार देवता पीछे एक बार देवी पीछे कागजन में घूमेगा तब इसका मंथन होगा तब इसमें से अमृत निकलेगा और देवता और वैद्य दास की किताब दे उनके भाई कैसे आएगा तुम लोगों में तो चलो समुद्र मंथन होगा वो तो थोड़ा अमृत में तो हमारा क्या उपयोग है कि तो उसमें तुम्हें लपेट करके तुम्हारी खींचा काम होगी उन्हें तुम बड़े स्वार्थी हो तुम जानते नहीं मेरी क्या दशा होगी एक बार तुम खींचोगे एक बार ये खींचेगे सबसे पहले अमृत तो आपको मिलने को देंगे तो अमृत के लोग में लोग लाए दास दास की नाम रही है तम गुरु संदेश दास मंगराकर पर्वत ने उसको लपेट लिया मंथन करना प्रारंभ किया तो भगवान जो है पहले स्वयं देवताओं को साथ में लेकर के और भगवान और दास की का जो मुख था उधर लग गए कहा भाई पूरा तुम कर तो लो दैत्यों से कह दिया पूछ की तरफ तुम हो दैत्यों ने पूछ नहीं पकड़ी कहने लगे नदी नो गयम नग्नी नो गयम कुचम अरे रंग मनंग अरे हमारी तुम्हारी इसलिए तो नहीं बनती है तुम लोग अपने को बहुत पवित्र मानते हो हाँ और हम लोग तो ऐसे समझते अपने लोग तो मुख की तरफ हो गए और हमको जिधर ये टट्टी पेशाब करता है अपवित्र जो शरीर अंग है जिसका हम्म? उधर तुम हमको लगा रहे हो तो हम इसके इस इधर जो हिस्सा है पीछे का रूज की तरफ हम इसको नहीं छुएंगे हम नहीं स्पर्श करेंगे भगवान ने संकेत किया देवताओं का चलो चलो छोड़ दो तुम्हारा तो भगवान जो स्मरणानो विसर्जाग्रम पुच्छम जग्राह सामरा भगवान मुस्कुराते हुए बोले हम यही तो चाहते थे अगर पहले हम पूछ की तरफ लगते तो कहते नहीं हम घर लगेंगे बोलते होते हैं तो भगवान ने जो है वो बासुनाथ की पूछ की ओर आ गए और जो है जब मंथन आने लगा तो वो तो नीचे को नीचे जा रहा है पर्वत बड़ा भारी है भगवान ने कहा तो बड़ा बुझने है तो भगवान स्वयं किसी से कुछ नहीं कहा न किसी को पता चला और नीचे कक्षक रूप धारण करके उसको तो मंगला के पर्वत को अपनी पीठ कर सब लोग प्रसन्न हो गए तथा स्वयं बुद्धवीर कंपितम पृष्ठे भ्रमण में कच्छपो अंग पंद्रिय लंबे जब वो उनकी पीठ पर घूम रहा था मंदिरा चल पर्वत तो भगवान को ऐसा मालूम होता हमारी पीठ को कोई भिजला रहा है और उसकी विषैली जहरीली जो सांस निकलती उसके द्वारा उन असुरों के दैत्यों के शरीर सब काले पड़ गए त्वचा खाली पड़ गई झुलस गए अब तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा पर अभिमानी अब ये नहीं कह सकते कि भाई पूछ की तरफ हमें कर दो अवले मकाले बली लगायो दावा निगर्भास जैसे जंगल में अग्नि लग जाए तब कुछ वृक्ष जैसे काले काले हो जाते हैं जल करके ऐसे सब दैत उनके शरीर काले कर और हाँ। बहुत देर हो गई मंथन करते करते अब जब अमृत नहीं निकल रहा है तो भगवान ने और वो लोग थक गए भगवान ने कहा लोग भाई तुम छोड़ो हम उनको अकेले कर दो भगवान ने दास की नाक को पकड़ करके तो ऐसा विशाल शरीर भगवान ने धारण किया तो दूसरे पर्वत के समान मेघश्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युत कथ श्रद्धरो वो पीताम्बर चारों श्रेणी से लिखता हुआ था श्याम का वर्ण था में कुंडल शोभा पा रहे थे बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी माला पहनी हुई थी दोनों हाथों से दाक्षीनाथ को पकड़ करके भगवान जब मन, मन उसका मंथन कर रहे थे तो दूसरे पर्वत के समान मालूम होते थे तो और जब भगवान ने मंथन किया तो अमृत तो नहीं निकला पहले विष निकला हालाहलम विषम हूं पहले तो उसमें जो दोष था ना पहले जो दृश्य भयं का विष प्रकट विष के ऊपर आते जितने भी मछली आदि जो थी सब मर व्याकुल हो गए जीव और उसका प्रभाव जो है इधर उधर होने लगा गैस के गैस के प्रभाव से कितने लोग मर गए तो ये तो थोड़ी गैस का क्या प्रभाव था वो तो दुष्ट बड़ा भयंकर था तो उससे तो स्पर्श करके वायु जिधर जाती उधर के वृक्ष और मनुष्य सब नष्ट हो गए बड़ा भयंकर दुष्प्रगत हुआ तदुपदेशम बेगम विषम दिश दिश सब प्रचार दुष्ट अब तो जब ये देखा कभी ये तो सारे दुष्ट को ही नष्ट कर देगा अब क्या करना चाहिए तो फिर उनकी इससे तो भगवान शंकर ही रक्षा करें ये तो मक्खन श्री खाने वाले श्री कृष्ण थे अब इनसे क्या करें तो भगवान